परम पिता परमात्मा का स्मरण रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण ओ धर्म प्रेमी सज्जनों आर्यों को परमात्मा के प्रति क्या भाव रखना चाहिए परमात्मा की किस रूप में स्तुति करनी चाहिए और उस स्तुति के योग्य परमात्मा का सेवन कैसे करना चाहिए ये बात आज के मंत्र के अंदर कही गई है आर्याभिविनय के प्रथम भाग में छियालीसवां मंत्र है ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तहत्तरवें सूक्त का तीसरा मंत्र है इस मंत्र में वो उपमाएं दे करके बात को समझाया गया है परमात्मा कैसा है ये भी उपमा दे करके बताया गया और हमें परमात्मा के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए ये भी उपमा दे करके समझाया गया मंत्र है देवो न यह पृथ्वी विश्वधाया यह जो जो से यहां तात्पर्य है जो परमात्मा जो ईश्वर उपक्षेति ये क्रिया है इस वाक्य में प्रथम पंक्ति में जो निकटता से भली प्रकार से निवास प्रदान करता है गति प्रदान करता है हमें क्रियाशील करता है और हमें ज्ञान देता है उपक्षेती इसमें क्षी धातु है क्षी निवास गत्यो हो निवास भी और गति भी गति के फिर हम अलग अलग अर्थ लेते हैं एक गति यानी क्रिया प्रेरणा ज्ञान प्राप्ति कराने वाला वो सब अर्थ यहां पर गृहित होंगे इसको व्यापक बनाने के लिए तो यह उपक्षेति जो परमात्मा हमारे को बहुत निकटता से वास कराता है निवास देता है हमारी गति करवाता है हमारी प्रगति करवाता है हमें प्राप्तियां करवाता है उपलब्धियां देता है हमें ज्ञान देता है वह परमात्मा किस प्रकार से देवो न पृथ्वी विश्वधाया न अर्थात जैसे इव न देव जिस प्रकार से देव पृथ्वीम पृथ्वी को विश्वधाया सब प्रकार से धारण करता है पृथ्वी को धारण करने वाला स्थूल जगत में हमें सूर्य दिखाई देता है जो दृष्टांत दिया जाता है वो सरल होता है और सुनने वालों के लिए ज्ञात होता है परिचित होता है तो यहां परमात्मा को समझाने के लिए कि जैसे देव अर्थात सूर्य पृथ्वी पृथ्वी को धारण करता है और विश्वधाया का महर्षि ने कहा जो इस विश्व को धारण करने वाली शक्ति है उसको भी जो धारण करता है उपक्षेती जो अच्छी प्रकार से निवास कराता है गति प्रदान करता है इस पृथ्वी का अपने स्थान पर टिका रहना आवास की प्राप्ति ठीक स्थान पर रहना वो सूर्य पर निर्भर करता है बहुत अधिक सूर्य पर निर्भर करता है इस पृथ्वी की गति बहुत अधिक सूर्य पर निर्भर करती है तो जिस प्रकार से सूर्य पर आश्रित होकर के ये पृथ्वी है जिस प्रकार से ये देव सूर्य पृथ्वी को धारण करता है इसको वास देता है इसी प्रकार से यह जो परमात्मा हम सबको भी वास देता है रहने के लिए स्थान देता है रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करता है ये पृथ्वी हमारा निवास है अन्य भी जो पृथ्वियां हैं वो भी निवास के हेतु हैं निवास के आधार हैं हमारे ये निवास व्यवस्था किसने की है उस परमात्मा ने की है हमारी दृष्टि हमारे निवास तक रहती है निवास अर्थात जो हमारा घर है जो हमारे खेत हैं जो हमारा गांव है और उसमें भी मुख्य रूप से हमारे घर तक सीमित रहते हैं बच्चा जब उत्पन्न होता है तो अपना निवास स्थान कहां पाता है अपने घर को अन्य घरों में वो निवास नहीं कर सकता वो बैठ सकता है तो अपनी मां की गोद में अपने पिता की गोद में उसे वही अपने आश्रय प्रतीत होते हैं उसके लिए वही आश्रय होते हैं तो बचपन से हमारे मन में निवास का मतलब माता पिता का आश्रय माता पिता का घर या जहां भी हम रहते हैं वो ही निवास प्रतीत होता है और बड़े होकर के भी जब व्यक्ति अपना घर बना लेता है या उसी घर में रह रहा होता है उस घर को ही अपना निवास मानता है और व्यवहार में वो हमारा निवास है उस निवास को बनाने वाले तो हम हैं हमारे माता पिता हैं यद्यपि उसके पीछे भी परमात्मा का सहयोग है पर स्थूल रूप से अन्य मनुष्य या हम स्वयं निवास के बनाने वाले हैं लेकिन वेद मंत्र कह रहा है कि जैसे सूर्य इस पृथ्वी को निवास कराता है ऐसे परमात्मा हमें निवास देता है अब ये कौन सा निवास है तो जैसे हम कहते हैं कि हम कहां के निवासी हैं तो व्यापक रूप से जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे हम पृथ्वी के निवासी हैं ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है इतने लोक लोकांतर हैं उस सबकी दृष्टि से यदि हम कहें कि हम कहां रहते हैं तो हम अपने घर का पता नहीं बताएंगे मैं वहां रहता हूं मैं पृथ्वी का वासी हूं जैसे हम विदेश जाते हैं इतनी बड़ी पृथ्वी है तो कहते हैं आप कहां के निवासी हैं मैं भारत देश का निवासी हूं भारत भी इतना बड़ा है हम कहीं भिन्न राज्यों में जाते हैं कहां के निवासी हैं कहां के रहने वाले हैं हम हम इस प्रांत के रहने वाले हैं अथवा इस शहर के रहने वाले हैं वहां कोई भी ये नहीं कहता कि मैं इस घर का रहने वाला हूं घर का पता नहीं बताता है कोई क्योंकि जब हमारी व्यापक दृष्टि होती है जब हम व्यापक रूप से देख रहे होते हैं तो वो निवास स्थान घर नहीं बताया जाता या अपना कमरा नहीं बताया जाता ये कमरा मेरे निवास का स्थान है हाँ हम यदि केवल हमारे घर की बात कर रहे हो कि आपका निवास स्थान कहाँ है तो कहेंगे मेरा निवास स्थान इस कमरे में है क्योंकि अन्य परिवारजन दूसरे कमरे में रहते हैं आश्रम में जाएं तो आपका निवास स्थान कहाँ है तो हम कह सकते हैं कि ये कमरा मेरा निवास स्थान है लेकिन यदि हम अहमदाबाद जाएं वहां से बात करें तो हम आश्रम का कहते हैं घर का नहीं कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में जब हम अपना निवास स्थान देखते हैं तो ये भूमि हमारा निवास स्थान है क्योंकि हम हमारा जीवन केवल घर में ही नहीं बिताते हम बाहर भी बहुत जाते हैं तालाबों में समुद्रों में अलग अलग देश देशांतर में वहां से चीजें प्राप्त करते हैं खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं तो ये सब हमारे निवास के हित स्थान हैं इस निवास को देने वाला कौन है हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होते हैं इन्होंने हमें निवास स्थान प्रदान किया लेकिन व्यापक रूप से देखें तो ये सारा निवास स्थान परमात्मा का दिया हुआ है तो जिस प्रकार से सूर्य इस पृथ्वी को धारण कर रहा है ऐसे परमात्मा हमें धारण कर रहा है जैसे ये सूर्य धारण करने वालों को भी धारण कर रहा है इस पृथ्वी पर बहुत सी धारण करने वाली चीजें हैं जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां हमारा धारण करती हैं लेकिन इनका भी धारण करने वाला कौन है सूर्य है बिना सूर्य के ये जीवित नहीं रह सकती बढ़ नहीं सकती फल फूल उत्पन्न नहीं कर सकती हैं तो हमारे जो धारण करने वाले हैं उनका भी धारण करने वाला वह देव है सूर्य है इसी प्रकार से जो परमात्मा हमारा धारण करता है जो हमें निवास प्रदान करता है जो हमें गति प्रदान करता है ये जो हम गति कर पाते हैं इसमें इच्छा हमारी होती है प्रयत्न हमारा होता है ये हमारी स्वतंत्रता है किंतु गति की सारी व्यवस्थाएं परमात्मा ने कर रखी हैं जिन मांसपेशियों के माध्यम से हम गति करते हैं वो परमात्मा की व्यवस्था से हमें प्राप्त है गति की व्यवस्था परमात्मा ने की है हम जो बोलते हैं मुख संचालन करते हैं ये जो गति हो रही है ये व्यवस्था किसने की है ये परमात्मा ने की है हमारी गतियों की व्यवस्था करने वाला वो ही है उसके कारण ही हम गति कर पाते हैं जितनी भी हम प्राप्तियां करते हैं वो सब उस परमात्मा के कारण ही कर पाते हैं हम नहीं कर सकते नहीं तो और जितना ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो भी उस परमात्मा के कारण ही है तो मंत्र में कहा कि देवो न देव के समान सूर्य के समान जैसे सूर्य पृथ्वी को और अन्य धारण करने वालों को भी धारण करता है ऐसे ही यह जो परमात्मा उपक्षेति हमारा निवास कराता है हमें गति प्रदान करता है दूसरी उपमा दी हित मित्रो न राजा न अर्थात जैसे हितमित्र राजा हितमित्र ये राजा का विशेषण है जैसे हितमित्र राजा उपक्षेती निवास कराता है गति प्रदान करता है राजा हमारा रक्षक होता है हमारा पालन करता है व्यवस्था देता है और विशेषण यहां पर दिया हितमित्र हिता धृता मित्रा सुहृदा ये न जिसके द्वारा मित्रों को धारण किया जाता है ऐसा राजा कोई भी शासक बन के बैठ गया लेकिन वो ऐसा शासक है जो मित्रों को धारण नहीं कर सकता जिसके मित्र नहीं है जो मित्रों के साथ रहना नहीं जानता है ऐसा राजा नहीं हित मित्र राजा जो राजा इस सामर्थ्य को रखता है कि जो अपने मित्रों का धारण कर सकता है करता है जिसने बहुत सारे मित्रों को धारण कर रखा है जो मित्रों के साथ में संबंध निभाना जानता है ऐसे राजा के समान राजा केवल शासक तो दुष्ट भी हो सकता है जिसका कोई मित्र ना हो जिसका कोई प्रिय ना हो लेकिन चूंकि वो पद के ऊपर है शक्तियां हैं और वो शासन कर रहा है ऐसे राजा के समान नहीं जो हित मित्र राजा है तो परमात्मा भी हमारा शासन करता है वो हमारा शासक है निर्देशक है नियंता है राजा के समान लेकिन हित मित्र राजा के समान परमात्मा के जो मित्र होते हैं उनको वो धारण करता है उनकी वो पूरी रक्षा करता है ऐसा वो राजा है तात्पर्य यदि हम राजा के मित्र बन जाएं तो राजा हमें विशेष रूप से धारण करता है हमारा हित करता है तो परमात्मा हमारा राजा है लेकिन हित मित्र राजा है और जब हम उसके अनुरूप वर्तते हैं तो हम भी हमारा भी वो उसी प्रकार से धारण करते हैं तो प्रथम पंक्ति में एक तो सूर्य के लिए उल्लेख किया एक राजा के लिए इनकी तरह जो परमात्मा यह उपक्षेती हमारी रक्षा करता है हमारा पालन करता है ये परमात्मा की स्तुति है इस मंत्र को महर्षि दयानंद ने स्तुति के रूप में ही लिया है स्तुति मंत्र है हम आर्यजन परमात्मा को ऐसा माने ऐसा स्वीकार करें वो परमात्मा चूंकि ऐसा है इसलिए हम उसको ऐसा ही माने अब परमात्मा की स्तुति की है परमात्मा ऐसा है इसलिए हमने ये स्तुति की है अब हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य बनता है हमें उसके प्रति क्या व्यवहार करना है तो उसके लिए मंत्र की दूसरी पंक्ति में दो उपमाएं दी हैं पहली उपमा दी पुरह सदह शर्म सदो न वीरा वीरा न वीरों के समान जिस प्रकार से वीर लोग कैसे होते हैं पुरह सतह ये पूर्वम सीदंती जो पहले रहते हैं जो आगे रहते हैं वो पुरह सदह वीराह वीर बहुत सारे होते हैं कुछ वीर ऐसे होते हैं जो सबसे आगे पहुंच जाते हैं युद्ध के अंदर संघर्ष के अंदर मेहनत के अंदर आगे बढ़ने के अंदर और कुछ वीर होते हैं जो पीछे रहते हैं चलते तो हैं लेकिन पीछे रहते हैं सदा ये पूर्वम सीदंती जो आगे रहते हैं अग्रणी रहते हैं ऐसे वीरों के समान और पुरह सदा का दूसरा अर्थ किया शत्रुन हिंसंती वा जो शत्रुओं का नाश करते हैं जो आगे रहते हैं वो अधिक योग्य होते हैं अधिक संघर्षशील होते हैं अधिक त्याग करते हैं अधिक साहसी होते हैं अधिक पुरुषार्थी होते हैं हर व्यक्ति आगे नहीं चल सकता तो हम ऐसे वीर की तरह जो पूरा सदा है आगे रहता है और आगे कहा शर्म सदा ये जो पूरा सदा वीर है वो शर्म सद भी होता है शर्म कहते हैं सुख को ये शर्मणी सुखे सीदंती ते जो शर्म में यानी सुख में रहते हैं उन वीरों की तरह से अब इन दोनों में संबंध भी हमें देखना है जो पुरह सदा होते हैं वो शर्म सदा होते हैं जो आगे रहते हैं वो सुख को शांति को प्राप्त करते हैं जबकि सामान्यतः हम क्या सोच लेते हैं कहीं कोई कार्य आए संघर्ष आए लोहा लेना हो त्याग करना हो बलिदान करना हो तो कहते हैं दूसरे करेंगे वो पीछे हट जाता है क्यों क्योंकि आगे गए तो नष्ट भ्रष्ट होंगे हमारी हानि हो सकती है हमें कष्ट हो सकता है हमारा विश्राम समाप्त हो सकता है हमारा सुख समाप्त हो सकता है ये सोच के व्यक्ति पीछे रहता है औरों को आगे बढ़ने दो खुद पीछे रहता है लेकिन वेद का अभिप्राय है पूरा सदह शर्म सदह जो आगे बढ़ते हैं बलिदान के लिए मेहनत के लिए कार्य के लिए वो शर्म सदा वो सुख में रहने वाले होते हैं पीछे रहने वाला सुख में नहीं रह सकता वो सोचता है कि मैं सुख में रह रहा हूं मैं पीछे रहूंगा तो अपने सुख को बचा पाऊंगा कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो ठीक है दूसरे करेंगे पुलिस में जाके सूचना देंगे तो दूसरे देंगे मैं क्यों दू कोई ना कोई तो दे ही देगा ये पूरा सद नहीं है पीछे रहने वाला है शत्रु है अन्यायी अत्याचारी है तो क्षत्रिय जो वीर है वो आगे जाकर के खुद लड़ता है वो ये नहीं प्रतीक्षा करता है कि दूसरे जाएंगे जाने दो मैं थोड़ा सा बच जाऊं क्यों बच जाऊं क्योंकि कुछ सुखी रह लूंगा लेकिन वेद कहता है जो पुरह सद होते हैं वे शर्म सद होते हैं अधिक कल्याण को अधिक सुख को वो पाते हैं जो आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये जो बाहर का दुख है संघर्ष है कष्ट है ये बहुत अधिक पुण्य को देने वाला होता है ये बहुत अधिक सुख को देने वाला होता है ये व्यर्थ नहीं जाता है ये हमारे द्वारा किया गया परोपकार होता है तो ऐसे वीर जो पूरा सद हैं शर्म सद हैं उनके समान हम बने महर्षि ने यहां पर पूरा सतह के लिए कहा जो जन ईश्वर के पूरा सत है ईश्वर के प्रति मुख हैं ईश्वराभिमुख हैं ईश्वर के प्रति उन्मुख हैं ईश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं ईश्वर के निर्देशों को पालने के लिए उद्यत रहते हैं वे शर्मसद होते हैं सुख को प्राप्त करते हैं तो एक आर्य को ऐसे परमात्मा के प्रति पुरह सद होना चाहिए और तभी वो शर्मसद भी होता है हर कार्य में ईश्वर की आज्ञा पालन में आगे रहे जिसके लिए महर्षि कहते हैं उसकी आज्ञा पालन करने में सदैव तत्पर रहे तत्परता का यही अर्थ होता है एकदम आगे रहे दूसरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये नहीं सोचेगा वो वो स्वयं तत्पर है सबसे पहले जाएगा सबसे पहले करना चाहेगा क्योंकि वो मेरे उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा है ऐसे उस कृपालु परमात्मा की आज्ञा है और उसके पालन में वो कष्ट हानि देखता ही नहीं है वो उसमें लाभ देखता है कि इससे मेरे को शर्म की प्राप्ति होगी सुख की प्राप्ति होगी तो जैसे आगे रहने वाला वीर शांति में रहता है ऐसे हम लोग भी ईश्वर के प्रति आगे होते हुए उन्मुख होते हुए अग्रणी होते हुए सुख को शांति को प्राप्त करें दूसरा उदाहरण दिया दूसरी उपमा दी अनवद्या पतिजुष्टे व नारी अनवद्या ये नारी का विशेषण है पतिजुष्टा इव पतिजुष्टे व यहां पर इव शब्द लिया उपमा के लिए जैसे अन्य तीन में न शब्द का प्रयोग था वो भी इव अर्थ में यहां भी इव ही अर्थ है ये इव शब्द साक्षात का है तो नारी स्त्री पत्नी कैसी जो अनवद्या है जो दोषों से रहित है जो उत्तम उत्तम गुणों से युक्त है अतिश्रेष्ठ नारी अनवद्या इसमें शब्द है न अवद्या अनवद्या अवध्य कहते हैं निंद्य को गर्य को जो निंद्य नहीं है दोषों से रहित है अनिंद्य है जिसकी निंदा नहीं की जा सकती ऐसी और अवध्य किसे कहते हैं न उद्यते वति तुम अयोग्यम अवत्यम जिसको कहा नहीं जाता है उसे अवत्य कहते हैं हमारे में जो दोष होते हैं वो कहे नहीं जाते हम उनको कहते नहीं हैं कोई विक्रेता किसी यंत्र को बेचे और उसके गुण बताएगा वो तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसको वो नहीं कहना चाहता है उसके बारे में वो कौन सी चीज है जिसके बारे में वो नहीं कहना चाहेगा गुण होंगे तो उनको अवश्य कहना चाहेगा वो वो चीज होंगी जो दोष होंगी निंदे होंगी गर्हे होंगी त्रुटियां होंगी वो अवध्य होती हैं कहने योग्य नहीं होती हैं तो जिसमें न कहने योग्य कुछ है ही नहीं जिसकी हर बात को कहा जा सकता है इसका ऐसा आचरण है इसमें ऐसे गुण है इसका ऐसा स्वभाव है ऐसी कोई बात ना हो जिसको कि ना कहा जा सके उसकी अर्थात सब गुणी गुण हो जिसमें ऐसी अनवत्य नारी महिला के समान और दूसरा विशेषण दिया पति जुष्टा जुष धातु यहां पर है प्रीति और सेवन अर्थ में जो अपने पति के प्रति प्रीति रखती है और जो पति के प्रति सेवा भाव रखती है उसकी पूरी तरह प्रीति रखती है और पूरी तरह सेवा करती है ऐसी जो नारी है उसके समान हम भी हो जाएं परमात्मा के प्रति परमात्मा के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो कोई ये ना कह सके कि इसमें ये अवत्य है ये इसमें दोष है परमात्मा के प्रति हमें जाना है तो अनवत्य होकर के जाना है दोष रहित पवित्र स्त्री के समान परमात्मा के प्रति हमें उन्मुख होना है एक भी दोष हम में ना रहे और जैसे पत्नी पति के प्रति प्रेम रखती है और उसकी सेवा करती है ऐसे हम भी परमात्मा के प्रति प्रेम रखें उसकी सेवा करें उसकी आज्ञाओं का पालन करें ये जो पंक्ति है यहां पर अंत में अनबद्या पतिजुष्टे व नारी यहां नारी की उपमा क्यों दी गई अनेक बार ये बात आती है कि पुरुष श्रेष्ठ या नारी श्रेष्ठ कुछ बातें महिलाओं में विशिष्ट होती हैं यहां जो ये उपमा दी गई अनबद्यता की दोष रहितता की ये महिलाओं में हो सकता है दोष महिलाओं में भी होते हैं पुरुषों में भी होते हैं लेकिन यदि पति पत्नी की दृष्टि से देखा जाए जैसा कि यहां दृष्टांत है तो जिस प्रकार से दोष रहितता पत्नी में हो सकती है वैसी पुरुष में नहीं हो पाती है जिस उच्च स्तर पर पवित्रता महिला रख सकती है पुरुष नहीं रख पाता है जिस उच्च स्तर पर महिला अपने पति से प्रेम कर सकती है उस स्तर पर पति नहीं कर पाता है पुरुष नहीं कर पाता है और जितनी सेवा पत्नी कर देती है पति की उतनी पति नहीं कर पाता है ये अलग बात है अलग अलग तरह की महिलाएं होती हैं अलग अलग तरह के पुरुष होते हैं गुण दोष सब में होते हैं लेकिन जिस आदर्श की बात की जाती है उस आदर्श पर कौन अधिक रह सकता है किसकी संभावना अधिक है पुरुष की या स्त्री की महिला वहां अधिक रह सकती है इसलिए उसकी उपमा दी गई महिला के स्वभाव को चूंकि वो संवेदनशील बहुत होती है पुरुष उतने संवेदनशील नहीं होते हैं वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकती है रखती है विचार करती है दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे न पहुंचे इन छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखती है पुरुष उतना ध्यान नहीं रखता है उतना संवेदनशील नहीं होता है इस बात को संतानों के प्रति भी देख सकते हैं माता ऐसी हो सकती है जो अनवद्या हो बच्चों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो लेकिन पिता बच्चों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो उसकी संभावना कम है माता जिस तरह से बच्चों के प्रति प्रेम भाव रखती है पूरी तरह से पूरी तरह रख सकती है अपने को बिल्कुल त्याग करते हुए अपना कुछ भी ना सोचते हुए अपनी हानि उठाते हुए भी जिस स्तर पर माता बच्चों का हित कर सकती है पुरुष नहीं कर पाता है और बड़ों के प्रति भी देख लीजिए कि कोई पुत्री अपने माता पिता के प्रति जो भाव रख सकती है प्रेम का सेवा का अनबद्ध रूप में वैसा पुत्र नहीं रख पाता है पुरुष नहीं रख पाता है इस पंक्ति में महिला की एक विशेष स्थिति बताई गई है परोक्ष रूप से परमात्मा के प्रति हमारा भाव कैसा हो और इस ऐसी महिला के समान हो ऐसी पत्नी के समान हो अनेक व्यक्ति इस पंक्ति का भिन्न अर्थ भी लेते हैं जब हमारी दृष्टि ये होती है कि विभिन्न आदेश सेवाएं महिला के लिए ही हैं पुरुषों के लिए नहीं है विभिन्न त्योहार महिलाओं के लिए हैं पुरुष के लिए नहीं है तो इस पंक्ति के आधार पर कई जने यूं बोल सकते हैं बोलते हैं कि पत्नी के लिए तो कहा जा रहा है कि वो अनवद्या हो पुरुष के लिए तो नहीं कहा जा रहा कि वो अनवद्या हो गए अनवद्य हो गए पत्नी के लिए तो कहा जा रहा है कि वो पति जुष्ट हो पति की प्रीति और सेवा करे पुरुष के लिए नहीं कहा जा रहा है कि वो पत्नी जुष्ट हो पत्नी की प्रति प्रेम और सेवा रखने वाला हो तो यहां विधि नहीं की जा रही है कि ऐसा करे पत्नी यहां तो उपमा दी जा रही है कि पत्नी ऐसी होती है ऐसे हम ईश्वर के प्रति होवे पत्नी ऐसी होती है ये कहा जा रहा है महिला ऐसी हो सकती है सब महिलाएं नहीं होती लेकिन महिला में वो सामर्थ्य है कि वो ऐसी हो सकती है और ये गुण हम सब में आर्यों में होना चाहिए महिलाएं इसलिए परमात्मा परमात्मा के प्रति अधिक भक्ति श्रद्धा रख पाती है अनन्य भक्ति पुरुषों को भी और जो महिलाएं अनन्य भक्ति नहीं रखती हैं उनको भी सबको परमात्मा के प्रति ये स्थिति रखनी चाहिए जैसे कि अनवद्या पतिजुष्टा नारी होती है ऐसे हम परमात्मा के प्रति बन जाए तो मंत्र में परमात्मा की पहले स्तुति की गई जैसे वो परमात्मा सूर्य के समान हमें धारण करता है जैसे सूर्य पृथ्वी को धारण करती है सूर्य उसको गति प्रदान करता है परमात्मा भी हमारे निवास का हेतु है कारण है और हमें समस्त गतियां वस्तुएं और ज्ञान प्रदान करता है जिस प्रकार से हितमित्र राजा अनेक मित्रों को धारण करने वाला राजा प्रजा का निवास का हेतु होता है ऐसे ही वो परमात्मा भी है वो बहुतों का हित कर रहा है हम भी वैसे ही बन जाएंगे वो परमात्मा हितकारी है ऐसे उस परमात्मा के प्रति हम पुरह सद हों आगे बढ़ चढ़ करके उसकी आज्ञाओं का पालन करें और ऐसा करते हुए हम शर्मसद भी हो जाएं जैसे कि एक सच्चा वीर सद होता है और शर्मसद भी होता है ऐसा ही वीर बहुत शांति से मृत्यु को प्राप्त करता है जिस संतोष से वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है जिसने अपना बलिदान किया है जिसने अपने को आगे रखा है कर्तव्य का पालन किया है उसके मन में खेद बिल्कुल भी नहीं होता है कोई ग्लानी नहीं होती है कोई अफसोस नहीं होता है कि मैं ये काम नहीं कर पाया वो पूरी शांति से इस जीवन को त्याग करता है और सुख को प्राप्त करता है परमात्मा की व्यवस्था से ऐसा भाव रखते हुए हम परमात्मा के प्रति प्रस्तुत रहें और जैसे अनवत्या और पतिजुष्टा नारी होती है ऐसे हम परमात्मा के प्रति अपना भाव बना के रख सकें ये आर्यों की विनय होनी चाहिए ये आर्यों का भाव होना चाहिए महर्षि दयानंद ने इसी रूप में इसकी व्याख्या की है और अंत में कहा कि हम भी आओ भाई लोगों बड़े प्रेम से कह रहे हैं आओ भाई लोगों हम भी इसी प्रकार प्रेम प्रीति से युक्त होकर के ईश्वर की भक्ति करें और अपने सब मिलके परमात्मा से परम सुख लाभ उठावें इन भावों को मन में रखते हुए परमात्मा का स्मरण करेंगे ओम का उच्चारण और शांति पाठ